बेशक ज़क़़त तो सिर्फ फ़करा और मिसकीनों और उसकी तहसील व तकसीम पर मामूर कारकुनान और उनके लिए है जिनकी तालीफ कल्ब मतलूब हो और ग़ुलामों की आज़ादी में और कर्जदारों और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए है यह अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है